उन्हें इस वक्त यहाँ पर देखकर विक्रांत के पैरों तले जमीन निकल गई उसने अपना सिर पकड़ लिया हे भगवान अब क्या करूं ओह अचानक से विक्रांत को याद आया कि अदृश्य शक्ति द्वारा उसे आज पानी कोडवट दिया गया था तभी चारों तरफ से लड़कियों का अटैक हो रहा था हे भगवान अब बचा लो वरना मर जाऊंगा मैं हे भगवान आज मारने का प्लान बना रखा है क्या विक्रांत मनी मन सोचने लगा दरवाजे पर खड़े खड़े विक्रांत सोच में पड़ गया उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी दरवाजा खोले या नहीं यहाँ तो आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बन गई थी अब अगर विक्रांत खुद दरवाजा खोलता है तो फिर ये दोनों अंदर आ जाएंगी और फिर तो नैना और माँ दोनों मिलकर यहाँ तांडव मचा देंगी लेकिन अगर दरवाजा नहीं खोला तो माँ जाकर दरवाजा खोलने लग जाएंगी फिर तो और ज्यादा मुसीबत हे भगवान अब क्या करूं मैं ये मोनिका और जीनत को इतना कौन सा जरूरी काम पड़ गया दोनों को साथ में आना था विक्रांत दरवाजे पर खड़े खड़े सोच में डूबा हुआ था उधर मोनिका और जीनत लगातार दरवाजे पर नोक किए जा रही थी ये भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग अभी कब तक यहाँ खड़ी रहेंगी कौन है विक्रांत बेटा दरवाजे पे कौन है माँ ने कहा इसके बाद वो अपना हाथ धोलकर खुद ही दरवाजा खोलने के लिए तैयारी करने लगे अरे मैं जा रहा हूँ खोल रहा हूँ माँ रुको रुको विक्रांत भागता हुआ दरवाजे के पास पहुंचा और फिर उसने डोर ओपन कर दिया अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था हे हे आप लोग यहाँ क्या हुआ कुछ खाम विक्रांत दरवाजे को घेर कर खड़ा हो गया ताकि ये लोग अंदर न आ सके वो दरवाजे को इस तरह से ढककर खड़ा था जिससे अंदर किचन में माँ और नैना कुछ देख ना सके लेकिन नैना के साथ ही माँ भी अपनी गर्दन गेट की तरफ घुमाते हुए यहाँ देखने की कोशिश करने लगी क्या कर रहे थे इतनी देर से दरवाजा क्यों नहीं खोला मोनिका ने विक्रांत से पूछा इसके बाद उसने विक्रांत के हाथ में एक पैकेट पकड़ाते हुए कहा यह शेलॉक होम्स के लिए खाने का पैकेट इसके बाद मोनिका बिना किसी संकोच के अंदर दाखिल होने लगी लेकिन विक्रांत ने तुरंत ही उन्हें रोकते हुए आंख से कुछ इशारा किया जीनत ने विक्रांत के इशारे को समझ लिया उसे लग गया कि अंदर का माहौल कुछ ठीक नहीं है thank you thank you so much okay bye Vikrant लपक कर उन दोनों को बाहर भेजकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया ओ भगवान बच गया कौन था माँ ने सवाल किया है अरे कोई नहीं ये पड़ोसी थे मेरे वो कुत्ते का खाना लेकर आए थे बेचारे कुत्तों से बड़ा प्यार करते हैं विक्रांत ने बात बनाते हुए कहा क्या ये वही लड़की थी ना जो उस दिन तेरे इस कुत्ते को लेकर आई थी माँ ने गुस्सा दिखाते हुए पूछा मैं तुमसे कह रही हूँ इस चुड़ैल से दूर रहा कर मुझे इसकी आदत जरा सी भी पसंद नहीं है बताओ भला कोई किसी के घर ऐसे घुसाता है क्या जवान लड़की शर्म भी नहीं आती इसको फिर माँ ने नैना की तरफ देखते हुए कहा बेटा तुम चिंता मत करो मैंने और इसके पापा ने कुछ पैसे बचा कर रखे हुए जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तब हम लोग इसके लिए शहर में एक नया घर खरीद देंगे तब तुम दोनों वहाँ आराम से रहना फिर वहाँ कोई टेंशन ही नहीं है है ना बेटा विक्रांत अपने हाथ में कुत्ते के खाने का पैकेट लेकर खड़ा था माँ की बात पर ना तो वो हाँ कह सका और ना ही ना ही ना कह सका बस एक टक माँ की तरफ देखता रहा और हाँ अपने इस कुत्ते को भी तू संभाल के रख ये मेरे ऊपर हमेशा क्यों भोंकता रहता है दुश्मन समझता है ये मुझे अपना माँ ने विक्रांत के शेरलॉक होम्स की तरफ घूरते हुए कहा मैं बता रही हूँ इसको समझा ले वरना एक दिन मैं इसे पीट पीट कर घर से बाहर कर दूंगी शेरलॉक मानो माँ की सारी बातें समझ रहा हूँ पहले तो उसने लाचार नजरों से विक्रांत की तरफ देखा और फिर जोर जोर से भौंकने लग गया नैना को यह सब कुछ देखकर बड़ा मजा आ रहा था वो विक्रांत को फटकारा जाते हुए देख बहुत खुश हो रही थी पहली बार उसने विक्रांत को किसी से डरते हुए देखा था वो भी इस मौके का भरपूर आनंद लेने के मूड में थी आंटी ये तो सिर्फ पड़ोसी है इसका तो और भी बहुत सी लड़कियों के साथ चक्कर है ऑफिस में भी ये लेडीज स्टाफ के साथ हमेशा घूमता रहता है नैना अब आग में घी डालने का काम कर रही थी अरे हाँ आंटी ये जो नीचे मकान मालिक की बेटी है ना उसके साथ भी इसका चक्कर है सच में विक्रांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि नैना माँ के सामने उसकी पोल पट्टी खोलकर अपना कोई बदला ले रही है या सच में उसे इस बात से जलन होती है कि विक्रांत के आसपास कोई लड़की हो विक्रांत असमंजस में पड़ा हुआ था विक्रांत ये सब क्या है हे भगवान ये लड़का मेरे हाथ से निकल गया माँ ने बिल्कुल सीरियस होते हुए कहा पहले जब ये गांव में था तब तो ऐसा नहीं था तब तो किसी लड़की से बात करने में भी शर्माता था अब ये कैसा छिछोरा हो गया हम्म? माँ ने विक्रांत को घृणा से भरी नजरों से देखते हुए कहा बेटा अब तो तू ही इसको संभाल सकती है एक बार इसकी शादी हो जाए फिर तो इसे तू जैसे भी करके लाइन पे ले आना माँ आप इसकी बात मत सुनिए ये झूठ बोल रही है विक्रांत ने हंसते हुए कहा अब वो समझ चुका था कि नैना जानबूझकर माँ को भड़काने की कोशिश कर रही है विक्रांत किसी तरह से माँ को समझाने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक फिर से दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई विक्रांत फिर से टेंशन में आ गया हे भगवान अब कौन आ गया वो भागता हुआ डोर के पास पहुंचा और फिर से डोर के होल में झांक कर बाहर देखने लगा पता चला बाहर दरवाजे पर रिया खड़ी थी विक्रांत ने अब अपना सिर पकड़ लिया हे भगवान आज मुझे जिंदा मारने का प्लान बना लिया है क्या सबको एक साथ भेजे जा रहे हो प्लीज यार कुछ करो कौन है इस वक्त कौन आया है माँ ने सवाल किया इस वक्त उनकी नजर दरवाजे पर ही टिकी हुई थी नैना भी अपना काम रोक कर बड़े ध्यान से दरवाजे की तरफ देख रही थी अरे खोलेगा अब ये बस खड़े होकर देखता ही रहेगा माँ ने विक्रांत को डांटते हुए कहा विक्रांत ने फिर डरते डरते किसी तरह से डोर ओपन कर दिया क्या कर रहे हो सर इतनी देर से दरवाजे पर खड़ी हूँ पकड़ो इसे रिया ने दरवाजा खुलते ही विक्रांत के हाथ में तरबूज रख दिया विक्रांत उसे दरवाजे से ही वापस भेज देना चाहता था लेकिन तब तक रिया अंदर दाखिल हो चुकी थी उसे देखते नैना ने फिर से माँ की तरफ देखकर आंख से इशारा किया तुम तुम इस वक्त विक्रांत ने हड़बड़ाते हुए कहा